ॐप्यायन्तु ममाङ्गानि पापाप्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् अथर्वेदीय छांदोग्य परिषद प्रथम अध्याय ष्ठ खंड के सप्तम मंत्र का कुछ विचार हुआ था जिसमें आदित्य मंडलस्थ पुरुष है उसको परमात्मा रूप से कहा श्रुति ने तो आदित्य मंडल के भीतर में जो पुरुष है वह हिरण्य वस्त्र हिरण्य केसर आप्रणखात सर्वैव सुवर्ण ऐसा कहा गया ऐसा पुरुष है सारे के सारे ज्योतिर्मय है पूरा प्रकाशमय है ऐसा पुरुष है किंतु उसके आंख लाल हैं कैसे लाल है जैसे बंदर के गुदा से उपमित है कमल कमल से उपमित उसके आंख है ऐसा लाल आंख है ऐसा उसका नाम है उत ऐसा नाम है उसका तो सारे पापों से उठा हुआ है इसलिए वहां कोई पाप नहीं निष्पाप है परमात्मा में कोई पाप नहीं होता इसलिए उसका उपनाम पड़ा है उसकी जो उपासना करता है वो भी सारे पापों से उठ जाता है पापों से मुक्त हो जाएगा ये फल बता दिया <clears throat> आगे उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष की और चर्चा करते हैं आगे आगे मंत्र है

देवकामानां तस्य जो आदित्य मंडल पुरुष है उसका पूर्व से संबंध तस्य आदित्य मंडल पुरुष ऋग्च देश ज्येष्ठ ऋग्वेद और सामवेद दोनों उसके पर्व हैं दो पक्ष हैं ज्येष्ठों का पक्ष पक्ष हैं दोनों पर्व है तस्माद उदित जब ऋग और साम मिलकर के उद्गीत होता है यवेव ऋग अग्निशामा इत्यादि कहा था तो उद्गीत बनता है तस्माद उदित है क्यों रिक्त और शाम दोनों उसके दो पक्ष हैं इसलिए वो उद्गीत है पुरुष का नाम उद्गीत है तस्मात एवं उदगाता ये तसे गाता जो उदगान करने वाला उदगाता इसी का ही गान करने वाला होता है इसी आदित्य मंडलस्थ पुरुष का ही काम करने वाला होता है रिक और शाम का ही गान करता है तो काम करने वाला इसी पुरुष का ही गान करने वाला होता है स ऐसा वही है जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष वही यहाँ ये चमस्मात परांचो लोग है जितने आदित्य मंडल से ऊपर के लोग हैं जितने लोग हैं माने स्वर्ग है आदित्य से स्वर्ग लिया है वहां से ऊपर के जितने लोग हैं ये अमुस्मात परांचो लोग है यहां से जो ऊपर के लोग जितने भी हैं आदित्य लोग से ऊपर के लोग जितने भी हैं तेसाम से इष्ट उनको शासन करता है आदित्य मंडलस्थ पुरुष वहां से ऊपर जितने लोग हैं वो सबका शासन करता है महाजना तपस्या के जो लोग हैं ऊपर उनका शासन करता है और देव कामानाम चा देवताओं को उसके ऊपर जो देवता लोग रहते हैं महाजना सत्य आदि में जो देवता रहते हैं स्व से ऊपर उनके जो विषय है उनका भी शासन करता है या काम माने विषय काम में दे कामा विषय ऐसा यहाँ दे कामा जिसकी इच्छा होती है वो काम है काम माने विषय देवताओं के जो विषय है भोग के विषय उसका भी माने लोगों का भी शासन करता है और देवताओं का जो भोग्य विषय है उसका भी शासन करता है और चौ से यह देवताओं का भी शासन करेगा ऊपर रहने वाला देवताओं का भी शासन करता है इस प्रकार अधिदैवत उपासना बताएगी आगे अध्यात्म उपासना बताएंगे ठीक है देखें प्रथम उपासना उपासनम अपेक्षा उद्गीते संपाद्य दर्शे उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष की उपासना किस प्रकार किया जाए जिज्ञासा है प्रथम परस उपासना उस परमात्मा की उपासना कैसे जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है उसकी उपासना किस प्रकार ऐसे प्रश्न होने पर कहा ऐसे जिज्ञासा होने पर उदगीत है संवाद उदगीत में अभित करके उसको उदगीत बांध करके उपासना करना क्योंकि उदगित का ही उपासना चल रही यहां ऐसा है ओमित ये तद अक्षर उदगित उपासित कहा है उदगित उपासना प्रकरण है तो उदगित से संपन्न करके उसकी उपासना करना ये कहा तस्य भाष्य में कहा तस्य उदगीत तुम तस्य मैंने जिसको उत नाम से कहा था पूर्व में उत नाम वाला है वो उत इति नाम ऐसा बोला था उसका जो उतनाम वाला व्यक्ति है उसका उदगी तत्व देवस्य आदित्यानंद उस देव का तस्य देवस्य उदगी तत्व उसमें जो तो कैसा लेना कहते जैसे आदित्य आदि में कहा था इसे प्रथम अध्याय ष्ठ खंड के प्रथम मंत्र में आदित्य को उद्गीत कहा था इत्यादि जैसे आदित्य आदि उद्गीत है उसी प्रकार वो भी उद्गीत है विवक्षित विवक्षित तो आदित्य आदि के जैसे उद्गीत तो उसमें विवक्षित है कहा तस्य रिक्त सामच उस देवता का जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है उसका दो पक्ष है कहते हैं रिक्त सामक ऋग्वेद और सामवेद दोनों पक्ष हैं वैष्णव माने पृथ्वी आदि उक्त लक्षण पर्वणी पृथ्वी यमे रिक अग्नि साम इत्यादि जो कहा गया था यमे रिक पृथ्वी को रिक कहा था अग्नि को शाम कहा था दोनों मिलकर के शाम हो गए इत्यादि बताया था तो वही ज्येष्ठा है पक्ष हैं दोनों जो रिक और शाम जितने कहे गए थे पूर्व में सब उसके पक्ष हैं परमात्मा की है क्यों सर्वात्मा ही देव वो सर्वरूप है वो वो परमात्मा जो है वो आदित्य मंडल गुरु सर्वरूप है सर्वात्मा है सर्वरूप है परापर लोक काम स्थित तत्वाद उपत्य दे परलोक अपरलोक दोनों लोगों का भोग्य विषयों का शासन करने के कारण सिद्ध हो जाता है क्या सिद्ध होता है पृथ्वी अग्नि दीक्षा में कृष्णत्व पृथ्वी और अग्नि पृथ्वी को ऋग कहा हुआ है अग्नि को शाम कहा हुआ है पूर्व में उसके गेस्ट पक्ष सिद्ध हो जाएगा क्योंकि सबका शासक वही है और दूसरी बात सर्वयोनित्वाच सबका कारण भी है वो उसी में सब कल्पित है सर्वयोनि योनि माने कारण सर्वस्व योनि सर्वयोनि सबके कारण भी है वो देवता यतः एवं उन्नामा इसलिए उसका नाम उत पड़ जाता है नाम वाला है उत नाम वाला है वो उन्नामा च असौ रिक्षाम उतनामा भी है और रिक्षाम पर्व वाला पक्ष वाला भी है वो तस्मात रिक्षाम व्यष्णत्व प्राप्तम व्यष्णत्व प्राप्तम उदगितत्व इसलिए रिक्षाम जब व्यष्ण हो गया पक्ष हो गया तो उसको उदगित कहेंगे उस पुरुष को उच्चते परोक्षेणा कहा है तो रिक्षाम शब्द आता है किंतु उद्गित शब्द से कहा जाता है परोक्ष रूप से कहा जाता है परोक्ष प्रियवाद देवस्या कहा देवता लोग जो होते हैं परोक्ष प्रिय मानते हैं जैसे परिषद में आया था इदंद्र होते हुए इंद्र कहते हैं परोक्ष प्रिया ही देवा ऐसा आया इदंद्रम संतम इंद्र इति आचक्ष आय तो नाम इदंद्र है किंतु लोग बोलते हैं इंद्र बोलते हैं परोक्ष प्रिय है परोक्ष प्रियवाद देवस्य देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं तस्मात उद्गीत है इसलिए उद्गीत कहा माने आए तो रिक और शाम ज्ञष्ण वाला है वो किंतु उद्गीत शब्द से कहा जाता है परोक्ष नाम से कहा एक नंबर टिप्पणी कहा ज्येष्ठत्व प्राप्त इति अनुरोधी बात है टीका में ज्येष्ठत्व प्राप्त कहे या ज्येष्ठत्व बोल दिया है ज्येष्ठत्व प्राप्त है ऐसा लिखा है किंतु टीका में ज्येष्ठत्व प्राप्त ऐसा नहीं लिखा तस्मात्व एवं हेतोर उदम गायत्री उद्गात इसी कारण से वो उद्गीत है इसलिए उद को उत नाम वाला है परमात्मा उस उद का गान करता है ये व्यक्ति इसलिए उदगाता हुआ उद का गान करने वाले को उदगाता करता उद माने परमात्मा उत नाम वाला परमात्मा है उसका गान ये व्यक्ति करता है इसलिए इसका नाम उदगाता तस्मात् एवं हेतु इसी कारण से उदम गायती उदगाता उद का गान करता है इसलिए इसका नाम उदगाता उद माने परमात्मा वो उत नाम वाला है उसका गान ये करता है इसलिए उदगाता नाम पड़ा इसका यस्मात ही एतस्य यस्मात जिस कारण से यतस्य यथोक्त नाम न जिसका इस प्रकार का नाम बताया उत नाम बताया हुआ है परमात्मा का गाता जिससे कि वो व्यक्ति उत नाम वाले परमात्मा का गान करता है गाता असौ वो जो उदगाता है वह अतो युक्त उद्गाता नाम प्रसिद्धि उद्गातु इसलिए उस उद्गाता का नाम उद्गाता प्रसिद्धि है उतनाम वाले परमात्मा का गान करता है इसलिए उद्गाता को उद्गाता बोलते हैं ये कहा सयेश देव उन्नामा वो जो उतनाम वाला जो देवता है जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है जिसका नाम उत है सयेश देव उन्नामा उतनाम वाला जो व्यक्ति है वो आदित्य मंडल पुरुष ये च अमुष्माद आदित्यात परांच आदित्य लोक से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको शासन करता है ये चमुष्माद आदित्य परांत मैंने पराग अंजनाद ऊर्ध्वा ऊपर के तरफ जितने हैं आदित्य लोक से ऊपर लोग कहा ऊर्ध्वा लोका ऊपर के लोग तेषाम लोकानाम चेष्टे है चे सबका शासन करता है न केवलम स्त्रीत्व में केवल शासन ही करता नहीं चेष्टे च इष्टे चेष्टे चौ भी है चौ शब्दार्थ धारा टीचर धारण भी करता है उन लोगों का आदित्य लोग से ऊपर के जितने लोग हैं महाजना तपस्य जो भी लोग हैं सबका धारण भी करता है शासन भी करता है ऐसा क्यों सताधार पृथ्वी द्याम माम ऐसा आया है वही धारण उसी ने धारण किया है पृथ्वी और इमाम पृथ्वी उतर सभी का धारण करने वाला है द्याम द्याम माने होता है स्वर्ग और पृथ्वी माने ये दोनों को धारण करने वाला वही परमात्मा है इत्यादि मंत्र वर्णाद कहा एक माने यजुर्वेद में परिषद आदि में इसमें यजुर्वेदीय मंत्र है ये स्वदाधार प्रतिबिंब ध्यान उत्तीर्ण किंच देवकाम इष्ट देवताओं के भोग्य जो वस्तु है उसको देवकाम कहा जाता है देवताओं की इच्छा नहीं भोग्य वस्तु काम मेनते यदि कामा विषया कमुधातु से गाय करके काम बनाया गया विषय को काम कहा जाता है कहीं कहीं इंद्रियों को काम काम को इच्छा को काम बोलते हैं काम में तो काम काम इच्छा यहाँ विषय है किंच देव कामानाम इष्ट देवताओं का जो विषय है भोग के विषय है कौन सा देवता है उनके आदित्य लोग से ऊपर रहने वाले देवता इनको भी शासन करता है कहा यदि ये तत्त अधिदेवतम ये देवता संबंधी उपासना हो गई देवता विषय देवस्य उदगित स्वरूप मुक्तम देवता विषय उपासना में देवता के स्वरूप बता दिया उस उपनाम के देवता का स्वरूप बता दिया ये कहा ठीक से देखें यथा आदित्यादि नाम उद्गीत उद्गीथे संपाद्य उपासना मात्र विवक्षित है जैसे आदित्यादि को उदगीत में संपादन करके यहाँ उपासना विवक्षित है माने आदित्य दृष्टि से ऋग और शाम आदि की उद्गीत की उपासना करनी है ऋग उपासना शाम उपासना करनी है इसी प्रकार आदित्यादि को में संपादन करना दृष्टि करना है आदित्यादि दृष्टि से उपासना करनी है ठीक इस प्रकार परमात्मनोपी जो परमात्मा है आदित्य मंडलस्थ पुरुष जो परमात्मा है उसमें भी उसका भी तत्र संपाद्य वही उद्गीत भी संपादन करना करके उपासना विवक्षित उपासना विवक्षित करने करने से सर्व रिक्षाम सर्व रिक्शा में आत्मत्व सारे जितने भी रिक और साम है उदगित हो गया तो सब रिक्शा में वही परमात्मा हो जाएगा तस्य इत्यादि वाक्य इत्यर्थ तस्य रिक्त सामोच गेष्टव इत्यादि वाक्य इसके लिए है मंडलावच्छिन्न पुरुष से कथम रिगादि गेष्टत्व वो तो एक विशेष स्थान में है सारे के सारे रिक और शाम का पर्व वाला कैसे होगा पक्ष वाला कैसे होगा तो, तो मंडल विशिष्ट है आदित्य मंडल के भीतर है घेरे में है मंडलावच्छिन्न से आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है मंडल के घेरे में पड़ा हुआ है जो मंडल विशिष्ट पुरुष का पुरुष में प्रथम ऋगादिगेष्टत्व उसके ऋग्वेद सामवेद पक्ष कैसे होंगे ये शंका करके उत्तर देते हैं सर्वात्मा ही देव का वो देवता सर्वात्मा है सर्वरूप है वो देवता सर्वात्मा ही देव ऐसा उत्तर दिया परस्य स्वारस्य न सर्वात्मत्वाद ध्यानार्थम मंडलावच्छेदा उपन्न मृगादि व्यष्टत्व इत्यर्थ कहते देखो जो परमात्मा है स्वभावत स्वारस्य मैंने स्वभावत अपने स्वभाव से कैसा है सर्वात्म रूप है सर्वात्मत्व परमात्मा से स्वारस्य सर्वात्मत्व स्वभाव अपने स्वरूप से सर्वात्मा है वो क्यों तो उसी में सब बनता है सर्वरूप वही है ध्यानार्थम माने उपासनार्थ में उपासना के लिए क्या किया एक विशेष स्थान पर बताया कहा बताया आदित्य मंडल विशिष्ट करके बताया गया ये कहा है तो सर्वात्मा है किंतु उपासना के लिए एक विशेष स्थान पर बताया गया परस्य स्वारस्य न जो परमात्मा है वो स्वभावतः सर्वात्मत्वाद स्वभावतः सर्व अपने स्वरूप से सर्वात्मा है वो होते हुए भी आध्यानार्थ आध्यानार्थ ध्यानार्थम वो उपासना करने के लिए मंडलावच्छेदा एक मंडल के घेरे में कहा यहाँ आदित्य मंडल का पुरुष करके कहा उपासना के लिए है उपन्नम ऋगादि कृष्णत्व इसलिए वो सर्वात्मा है अपने स्वभाव से तो ऋग्वेद सामवेद आदि कृष्ण हो जाएगा पक्ष वाला हो जाएगा ये अर्थ किया तत्र भी हेतुंतरमा वो परमात्मा में ऋगादि कृष्ण होने में दूसरा भी एक देते हैं हेतु देते हैं परापर लोक काम स्त्री तत्व परलोक अपरलोक दोनों के शासन करता है भोग्य वस्त्र का भी शासन करता है लोक का भी शासन करता है ठीक है सर्वात्मत्व साधयती वो सर्वरूप है परमात्मा के सिद्ध करते हैं सर्वयोनित्वाद सर्वरूप क्यों सबका कारण होने से कारण ही कार्यरूप होता है कार्य में कारण से अतिरिक्त कुछ नहीं होता मिट्टी के जितने पात्र होते हैं मृद्रूपी है वो सर्वरूप है मिट्टी ऐसा ये भी है सर्व कारणत्व सबका कारण वही परमात्मा है सर्व कारणत्व सर्वात्मत्व जो सर्वात्मा है वो ऋगादि ज्ञष्णत्व युक्तम एवं इतर इसलिए ऋगादि ज्ञष्ण वाला हो जाएगा पक्ष वाला सिद्ध हो जाएगा ये बता दिया तस्मात उदगित वाक्य में यदि इसी कारण से उदगित है वो ऋगादि गेष्ट वाला है इसलिए उदगित है इसकी योजना लगाते यत इत्यादि आसन कहा यत वो उन्नामा वो उन्नाम वाला है परमात्मा उन्नामा च असौ रिक्षाम गेष्णश्च दो हेतु दिया उतनाम वाला भी है रिक्षाम पर्व वाला भी है पक्ष वाला भी है इसलिए तस्मात रिक्षाम ज्येष्ठत्व प्राप्त उदगित उच्य थे रिक्षाम जब पर्व बन गया तो उदगित हो गया वो ये कहा परोक्षण परोक्ष रूप से कहा गया टीका में कहते हैं प्राप्त सती यही टीकाकार बोलते हैं प्राप्त है या प्राप्त सती सप्तमी कर देते हैं उसको प्राप्त सती तस्मात उदगित उदगित है वाक्य उदगित उदगीतत्व परोक्षण नामना देवस्य उच्चते योजना परमात्मा जो नाम परोक्ष रूप से उदगित नाम से कहा जाता है शाम और एक पर्व होने के कारण उदगित कहा जाता है किमिति परोक्ष नामना देवो व्यवतिष्ठते क्यों परोक्ष नाम से उसका उपदेश क्यों किया जाता है उदगीत शब्द से क्यों कहा जाता है परमात्मा को सीधा उसके अपना नाम ग्रहण क्यों नहीं करते परोक्ष नामना देवो कस्मात विभेदी किम परोक्ष नामना देवो विभेदिस्ते परोक्ष नाम के द्वारा देवता का उपदेश क्यों यहां शंका करके कहा परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष विषय ऐसा ऐतर परिषद में आता है अन्य प्रति है परोक्ष क्रिया जैसे होते हैं देवता लोग परो ये क्या होगा प्रत्यक्ष में द्वेष करते हैं प्रत्यक्ष नाम बड़े का नाम सामने लेंगे तो बुरा मानेगा वो घुमा करके बोलेंगे तो ठीक होता है ऐसा जैसे गुरु के लिए आचार्य जी बोलेंगे तो अच्छा है नाम लेंगे तो बुरा हो जाता है ऐसा परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष दृष्टि वृत्तंतरम आश्रित अन्य स्मृति में ऐसा कहा है इसी को लेकर कहा परोक्ष प्रियवात देवश्य ये कहा उन्नामत्व देवस्य उद्गातुर उद्गातृत्व प्रसिद्धि प्रमाण हम्म। देवता जब उन्नाम वाला सिद्ध हो जाएगा उन्नाम देवस्य उन्नामत्व वह परमात्मा उत्नाम वाला जब सिद्ध होने पर क्या होगा उदगातुर उदगात्र उदगाता में उदगात्रित्व तो प्रसिद्ध हो उद को गान करता है इसलिए उसका नाम उदगाता उत्माने परमात्मा उसका गान ये करता है इसलिए इसका नाम पड़ गया उदगाता का गान करने के कारण से इसको उदगाता कहा जाता है ये कहा उन्नामत्व देवस्य देवस्य उन्नामत्व उस देवता का उत्नाम हो जाने पर मिलने पर उदगातुर उदगातृत्व प्रसिद्धि प्रमाण उदगाता में उदगातृत्व धर्म प्रसिद्ध हो जाता है प्रमाण कर देते हैं तस्मात इत्यादि भाषण कहा तस्मात एव हेतु उदम गायती इति उदगाता इसी कारण से उद का गान करता है ये इसलिए नाम पड़ गया उदगाता ठीक है मैं <clears throat> तत्शब्दार्थम स्फुटाएगी ये तस्मात आया तस के लिए यस्मात चाहिए या तदु संबंध हाँ, तस्मात आएगा तो पहले यस्मात होना पड़ेगा यद और तत् का संबंध होता है हमेशा यद तत्व संबंध ऐसा है तो इसलिए तत्शब्द के अर्थ स्पष्टीकरण करते यस्मात इत्यादि भाषण में लगाया यस्मात ही एतस्य यथोक्त नाम लो गाता वो तस्मात के लिए लगाने के लिए जिससे कि इस यथोक्त नाम वाला माने उत नाम वाले का ये गाता है गान करता है ये व्यक्ति गाता है असल वो गाता है इसलिए अतो युक्त तो उद्गाता इसलिए इसका नाम उद्गाता कहना ठीक है उत नाम का गान करता है इसलिए उद्गाता है उद्गाता इति नाम प्रसिद्ध उद्गातु ऐसे उद्गाता का नाम प्रसिद्ध है उद्गाता रूप से ठीक है प्रकृत उन्नाम से आगानाद इति अत शब्दार्थ आगे अत शब्द आएगा असौ अत है ना उद्गाता असौ अतो या अत का अर्थ करते हैं प्रकृति जो नाम वाला देव का आगान करने से उसका नाम उद्गाता पड़ जाता है असमता उद्गाना आगाना उद्गातुर उद्गाता यदि नाम प्रसिद्ध युक्ता योजना उद्गाता के जो उद्गाता नाम है हम्म, वो प्रसिद्धि हो गई क्यों उत्नाम के व्यक्ति का उद्गान करता है नाम गान करता है इसलिए उसका नाम उद्गातु उद्गाता का नाम उद्गाता हो जाता सर्व पापोदय लिंगात सारे पापों से उठा हुआ है वो आगे लिंग ऐसा है उसका अपहत पापमा है वो पाप निष्पाप पाप रहित है सर्व पापमा उदय लिंगा सर्वे पापों से उठा हुआ एक ज्ञापन मिलता है लिंग मिलता है इसे तस्य उस देवता का अन्यत्र असंभवात अन्यत्र सारे पापों से उठना संभव नहीं है जीवों में संभव नहीं है वो परमात्मा ही हो रहा सर्व पाप उदय लिंगा तस्य च अन्यत्र असंभवात सर्व पाप से उठना अन्यत्र संभव नहीं है इसलिए हो देव परमात्मा यदि उत्तम तत्र इसलिए आदित्य आदित्य के अंतर्गत जो देवता है परमात्मा है क्यों सभी पापों से उठा हुआ हाँ, अपहर पाप मत तो दिया हुआ है तो वो उस व्यक्ति का नाम और अन्यत्र अवत पाप मत तो होना संभव नहीं है इसलिए वो देवता परमात्मा ही है ये सिद्ध होता है अन्य दिया स ऐसा इत्यादि कहा सयेश देव उत्नाम ये देवता उत्नाम वाला है ऐसा देवता ये च अमुष्माद आदित्याद परांच पराग लोका ऊर्ध्वालोका लोका नाम चेष्टे न केवलम स्मृतत्व च शब्दात धारयित कहा वो देवता उत्नाम वाला देव इस आदित्य लोक से ऊपर के जितने लोग हैं सबको शासन करता है केवल शासन मात्र नहीं है धारण भी करता है क्योंकि श्रुति में दिया है स दाधार पृथ्वी द्याम उठे इमाम कहा इमाम पृथ्वी द्याम दाधार धारण किया उसने परमात्मा ने धारण किया है स्वर्ग पृथ्वी दोनों को धारण करता है ऐसा कहा ठीक है कहते हैं देव कामानाम इत्यादि देव कामानाम आदित्यात उपरितन लोकेशु अधिष्ठार हो ये देवा या देवकाम शब्द कहते कौन सा देवता लेना आदित्य लोक से ऊपर जितने देवता बैठे हैं उनको अधिष्ठाता देवता लोग हैं ये देवा तेसाम कामा माने कामा माने काम्य मान फल विशेष जिसको वो चाहते हैं काम्यंत कामा विषय जिसको देवता लोग चाहते हैं उसको वो विषय है वो फल विषय तेसाम उसका भी शासन करता है नहीं निरंकुशम लोक काम स्त्रीत्व परस्माद अन्यत्र संभवती माने सारा लोगों के शासन करना सारे विषयों का शासन करना निरंकुश रूप से शासन करना परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी में संभव नहीं है दूसरे के अधीन होकर के तो कोई करेगा अलग बात है इंद्र भी करता है किंतु दूसरे के अधीन होकर करता है निरंकुश शासन स्वतंत्र शासन सारे देवताओं का शासन और लोगों का शासन विषयों का शासन परमात्मा छोड़कर के अन्य होने सर इसलिए आदित्य मंडलस्थ पुरुष परमात्मा ही है ये सिद्ध होता है ये कहा ये सर्वेश्वर श्रुति ये सर्वेश्वर आया है श्रुति में कहा यही सर्वेश्वर है जो आदित्य मंडल पुरुष शिशु को सर्वेश्वर कहते हैं सर्वेशम ईश्वर सर्वेश्वर सबका ईश्वर वही है ऐसा आगे मंत्र है आगे अथाध्यात्म बागेवरिक प्राण सामा तदेतदेतस्यामृति अद्यूढ़ साम तस्मादृचि अद्यूढम सामदीयते भागेव सा प्राणो वामः तत्साम अथाध्यात्मम् भागेव रिप्राणसाम तदेतत् एतस्यामृचि साम तस्मादृतीयभ्यूढं सामगीयते वागेव सा अथ अध्यात्म अब अदितवत उपासना बताई आदित्य मंडलस्थ पुरुष को लेकर अब अध्यात्म उपासना बताना चाहते हैं अक्षिष्ट पुरुष को लेकर भी बताना चाहेंगे इसके लिए अंग अंग उपासना बताते हैं पहले अथा अध्यात्म अध्यात्म उपासना है बागे वरिक बाणी ही ऋग है माने ऋग में बाघ दृष्टि करना और प्राण साम हाँ, साम में प्राण दृष्टि करना ऐसा प्राण साम तदे तक ये तस्याम ऋषि अद्युण साम वाणी में प्राण आश्रित है ऋग्वेद में सामवेद आश्रित होता है तस्मात ऋचि अद्युणम साम इसलिए आज भी ऋचा में ऋग्वेद में आश्रित साम का गान कर, कर, किया जाता है ये कहा तो बाघे वसा वो शाम क्या चीज तो बाघे वसा वाणी को कहते सा और प्राणो अम प्राण को कहते अम मिलकर के बन गया तत्साम सा अम साम ऐसा हुआ ये कहते हैं भाष्य में कहते हैं अधुना अध्यात्म उच्चते का अब अध्यात्म उपासना कही जाती है बाघे बुलिक प्राण माने कौन सा प्राण लेना है वाणी के आश्रित रहने वाले घ्राणेन्द्रिय प्राणी के ऊपर रहने वाले प्राण माने घ्राण रूपी प्राण इंद्रिय इंद्रिय को लेना है प्राण माने सामान अधरोपरि अधरोपरिस्थान तो सामान्य बाघ इंद्रिय नीचे है घ्राण इंद्रिय ऊपर है ऋग में साम आश्रित है अधर स्थान है अधर है नीचे है बाघ इंद्रिय मुख में होती है वो और घ्राण है नाशिका में अधर ऊपर है अधर ऊपर स्थान तो सामान्य है ये सादृश है इनमें इसलिए वाणी को रिक कहा घ्राण को साम कहा घ्राण प्राणो घ्राण उचित है प्राण शब्द कहते घ्राण इंद्र लेना घ्राण उचित है सह ना माने प्राण के सहित लेना वायु के सहित घ्राण को लेना वो मुख्य प्राण भी आ जाएगा घ्राण भी आ जाएगा सह ना घ्राण उचित प्राण शब्द से वायु माने प्राण उसके सहित घ्राण इंद्रिय लिया जाएगा बाघेवसा प्राणोमय इत्यादि पूर्वक बाघेवसा में इत्यादि पहले जैसा ही है बता दिया ठीक है हम जाते हैं आदिदैविक उपास्ति आनंतरिम अथ शब्दार्थ ये तो अथ अध्यात्म में अथ आया इसका अर्थ आनंतरी है किसके आनंतरी है आदिदैविक उपासना के आनंतर यह अर्थ है इसका रिचि बाघ दृष्टि सामने प्राण दृष्टि से कर्तव्य रिक मंत्र में करना चाहिए बाघ दृष्टि और प्राण इसमें शाम शाम मंत्र में देखना चाहिए करना चाहिए प्राण ग्रहण ग्राण प्राण से ग्राण दृष्टि इत्यत्र हेतु महा ये कारण बताते हैं क्यों कहते हैं अधर ऊपर स्थान तो सामान्य बाघ नीचे है और ग्राण ऊपर है बाघ मुख में है और ग्राण नासिका में नीचे ऊपर भाग है इसलिए बाघ में तो प्राण बाघ दृष्टि करना किसमें ऋग्वेद में और सामवेद में करना घाण दृष्टि होता है ठीक है कथम रिक्षाणयोरिव बाक प्राणयोर अधरोपर स्थानत्व आहार कहते हैं ऋक और शाम के समान ऋग्वेद नीचे सामवेद ऊपर करके रखा गया इसी प्रकार बाघ प्राण और बाघ और प्राण का अधर ऊपर स्थान कैसे नीचे ऊपर कैसे बाणी और प्राण ऐसा दिखता नहीं कहा तो कहते हैं प्राण शब्द से घ्राण लिया ना तो ऊपर नीचे हो जाएंगे प्राण इत्यादि का प्राणो घ्राणम उच्चते सह वायु ना वायु के सहित हाँ, खाली ग्राण भी नहीं मैंने प्राण के सहित ग्राण को यहां प्राण कहा गया प्राण मात्रत्व व्यावर्त माने ग्राण मात्र तो नहीं है यहां सहवायु ना का वायु के सहित लेना ठीक है आगे मंत्र है चक्षुरे चक्षुरेवरिक आत्मा साम तदे तद एतस्यामृति अद्यूरम साम तस्मादृचि अद्यूरम सामगीयते चक्षुरेव सा आत्मा अमः सत्साम चक्षुरेव ऋग् आत्मा साम तदेतदेतस्यां रुचि अद्यूढं साम तस्मादृचि अद्यूढं सामगीयते चक्षुरेव सा आत्मा अमा चक्षुरे बरिक ऋग्वेद चक में चक्षु दृष्टि करना आत्मा माने छायात्मा आंख में जो छाया पड़ती है यह आत्मा छायात्मा आंख में जो छाया पड़ती है एक दूसरे के आंख में देखने पर छाया दिखाई पड़े वो आत्मा है ये छायात्मा लेना है या जीवात्मा है चक्षुरे रिक चक्षु में ऋग दृष्टि करना ऋग में चक्षु दृष्टि करना और शाम में करना छाया दृष्टि चक्षु में पड़ने वाली छाया दृष्टि करना शाम तदे तद एतस्याम रुचि अभ्युदम शाम चक्षु में छाया आश्रित है शाम तस्माद रुचि अद्युतम सामगेत इसलिए आज भी ऋग्वेद में आश्रित सामवेद का काम किया जाता है चक्षुरे वसा आत्मा आमा चक्षु को सा बोला दिया बोल दिया और छाया को बोल दिया आमा मिलकर जो है शाम ये कहा भाष्य वगैरह चक्षुरे वरिक आत्मा सामा कहा था या आत्मा से कहना आत्मा थी छाया आत्मा यहाँ आत्मा शब्द करता चक्षु में पड़ने वाली छाया जो दूसरे व्यक्ति की छाया पड़ जाती प्रतिबिंब पड़ता है उसको लेना आ तो छाया आत्मा का क्यों तो तत्सत्वा तो चक्षु में है छाया दूसरे की छाया दूसरे व्यक्ति की छाया पड़ती है इस चक्षु में चक्षु के ऊपर छाया हम्म, ऐसा देखने से ये लिया है ये कहा सत्सामत अच्छा ठीक है कहते भोक्ता आरम्भ आवर्त है आत्मा शब्द का मतलब जीवात्मा नहीं भोक्ता नहीं यहाँ इस मंत्र के आत्मा शब्द का मतलब भोक्ता नहीं जीवात्मा नहीं क्या कहा आत्मा छायात्मा ऐसा बोल दिया छाया चक्षु में पड़ने वाली छाया को लेना है दूसरे की छाया पड़ती है इस चक्षु आंख में अपनी छाया तो नहीं दूसरे की छाया पड़ती है कोई छाया चक्षु में है छायात्मा सामर्थ्य हेतु छायात्मा शाम है क्योंकि चक्षु तो हो गया रिक आत्मा जो है शाम है मान छायात्मा शाम में काम होता है तस्तत्व क्योंकि रिक के ऊपर में शाम होता है इसी प्रकार यहां चक्षु के ऊपर में छाया है तस्तत्व होगा मान चक्षु में स्थित है इसलिए चक्षुषी छायात्मा स्थितत्व आंख में छायात्मा रहती है हम्म। हमारे आंख में दूसरे की छाया रहती है बढ़ जाएगी ऊपर हाँ, चक्षु से छाया तो चेतत्वाद रिचि सामगत जैसे ऋग में सामवेद आश्रित है वैसे चक्षु में आश्रित है ये हाँ, इसलिए वो अम हो जाएगा चक्षु सा हो जाएगा बन जाएगा साम आगे मंत्र और भी मंत्र है श्रोत्रमेव रिंग मन साम तदे तदे तस्यामृति अद्यूढ़ साम तस्माद रुचि साम गीयते श्रोत्रमेव सा मनो अम तत्साम रिंग मन साम तदे तदे तस्याम साम तस्मात् रुचि साम गीयते श्रोत्रमेव सा मनो तत्साम स्त्रोत्र में तो रिक रिक ककार है मकार हो रखा ये रो अनुनाशिक अनुनाशिक मकार परे है अनुनाशिक को रखा है तो व्याकरण पढ़ने वालों को थोड़ा व्याकरण के सूत्र के ऊपर ज्ञान होना चाहिए हम्म। ये प्रयोग अवस्था है प्रक्रिया अवस्था वहां थे ये प्रयोग यहां है वो समझना है हम्म। स्त्रोत्र में रिक स्त्रोत्र कोई माने स्रोत्र में ऋग में ऋग्वेद में स्रोत्र दृष्टि करना मन साम और साम में करना मन दृष्टि तदे तद तस्याम रुचि अद्वित साम वही जो स्रोत्र रूपी ऋग में क्या है ऋग में मन रूपी साम आश्रित है साम तस्माद ऋचि अद्युडम साम यदि इसलिए श्रोत्र रूपी ऋग्वेद में मन रूपी साम आश्रित है इसलिए आज भी हाँ, क्या करते हैं ऋचा में आश्रित शाम को दान किया जाता है स्रोत्र में सा स्रोत्र को सा कहा जाता है और मन को अम कहा जाता है मिलकर के बन गया शाम ये कहा इसका भाष्य अभी कुछ भी नहीं भाष्य भी नहीं ठीक है भाष्य में थोड़ा सा कह दिया स्रोत्र में गरीब मन शाम स्रोत्र से अधिष्ठातृत्व मनसा सामत्व कहते हैं स्रोत्र ठीक है मन है क्योंकि मन में सामत्व कैसा है स्रोत्र से अधिष्ठातृत्व स्रोत्र में आश्रित है मन ये बोलते हैं इसलिए वो शाम हो गया सामत्व हो गया एक आगे मंत्र है अथ यदि तदक्षण शुक्लम्भा सा एव अथ यीलम परम कृष्णम् तत्सामा

शैव ऋग अथ यीलम पर कृष्णम तत्साम तदेतदेतस्यामृति अद्यूढम् साम तस्मादृति अद्यूढम् साम गीयते अथ यदेवैतद् अक्षणः शुक्लम्भा सैव सा अथ यन्नीलम् परः कृष्णम् तत् तत्साम अथ अनंतर यद एतद अक्षर शुक्लम बा अक्षर आंख के जो शुक्ल है आंख में जो शुक्ल बना है अक्षराम अक्षित अस्तक्षक अस्थि दधि सत्यक्षाम अनंत अक्षरा ष्ट्यंत है यह आंख में जो शुक्ल पना सफेद है बाहर में सफेद है ना शुक्ल प्रकाश है शैव सा उसी को सा कहा जाएगा शैव ऋग वो ऋग है वो अथा यन नीलम परम कृष्णम तत्साम इसके भीतर में जो काला बना है आंख में अत्यंत काला है अत्यंत काला बना है वो शाम है तदे तद एत्याम रुचि अद्यूढ़ पहला सफेद है उसके ऊपर में काला है ऋग्वेद में सामवेद आश्रित होता है तो यहाँ सफेद के ऊपर में काला आश्रित है पहले यहाँ नीचे तो सफेद है ऊपर के ऊपर काला है यही उपासना के ऐसे चिंतन करना है तो अतः यदि तत् अक्षण शुक्लम था जो शुक्ल प्रकाश है आंख में साये वरी को ऋग है वहां ऋग में ये दृष्टि करना है शुक्ल दृष्टि करना है या नीलम पर कृष्ण जो अत्यंत श्यामता है काला है वह तत्साम है वो मैंने शाम में कृष्ण दृष्टि करना है तदे तद एतस्याम इत्यादि साम इस ऋग्वेद में सामवेद आश्रित है तस्मात ऋचि अद्युतम साम गीयते इसलिए आज भी ऋग्वेद में आश्रित सामवेद का काम किया जाता है अतः यदेव तद अक्षम शुक्लम बा जो शुक्ल प्रकाश है यहाँ आठ में वह साएव शैव हाँ, सा उसका नाम सा है अतः यह नीलम पराकृष्ण जो कालापना है वो अमा है मिलकर के बन गया साम शुक्ल वाला हो जाएगा सा कृष्ण वाला हो जाएगा अमा मिलकर के बन जाएगा समा ये कहा टीका में कहते हैं आध्यात्मिकानी कांचित अंगोपासना ने उक्तवा आध्यात्मिक कुछ उपासनाएं बताई प्राण विरिक इत्यादि शब्दों के द्वारा अच्छा बाघ्य रिक प्राण साम इत्यादि शब्दों के द्वारा आध्यात्मिक कुछ, कुछ उपासनाओं को कथन करने के अनंतर प्रकारांतरण अंगोपासना वे भी अंगोपासना ये चतुर्मंत्रादि में भी अन्य प्रकार से करना यहां प्रकारांतरेण अंगोपासन में किंचित उपदेश कुछ उपदेश करते हैं उपदेश करते हैं ये कहा अथ इत्यादि शब्दों से ये कहा भाष्य में कहा अथ यदेत दक्षिण शुक्लम भा सही कहा जो आंख में जो शुक्ल प्रकाश है उदिक है अतः नीलम परम कृष्णम आदित्य युवा जैसे आदित्य में पर अत्यंत श्यामता दिखाई पड़ती है कहा था वह कृष्ण कहा था इस प्रकार यहां भी नीलम पर कृष्णम आदित्य युवा दृक शक्ति अधिष्ठानम जिसमें दृक शक्ति बैठती है अत्यंत काला है ना बीच में पुतली जिसको बोलते हैं हाँ दृक शक्ति रहती देखने की शक्ति बैठती है जहां बीच में वो काला वो है शाम ये कहा ठीक है कहते हैं अक्षण यदि तद रूपम शुक्लम दृश्यते आंख में जो शुक्ल रूप दिखाई पड़ता है सबसे नीचे सफेद पना है आंख में ऊपर में काला है अक्षहम ष्ठी है ध्यान देना अक्षी शब्द है ष्ठी अस्थि तक्षणाम अनंग उदात सूत्र लगा हुआ है अक्षहम अक्षणो एतद रूपम शुक्लम दृश्यते आंख में जो सफेद रूप ये जो रूप सफेद रूप दिखाई पड़ता है रिचि तद दृष्टि कर्तव्य अरे ऋग मंत्र में वो दृष्टि करना शुक्ल दृष्टि कर देना आंख के शुक्ल दृष्टि करना कहा ऋग मंत्र तदेव रूपम विष्णष्टि उसी का रूप का ही सफेद रूप का ही विशेषण लगाते हैं भा कहा प्रकाश रूप ये कहा भा बोल दिया भा दीप्त भा माने प्रकाश ऋचि पूर्वोक्त रूप दृष्टि बक्षमाण रूप दृष्टि ने भी सामने कर्तव्य ऋतु में जो पूर्वोत्तर दृष्टि किया शुक्ल प्रभा दृष्टि करने को कहा उसी प्रकार कृष्ण रूप है उसमें शाम दृष्टि करना शाम में कृष्ण दृष्टि करना ये भी कहना चाहते हैं ऋचि पूर्वोक्त रूप पूर्वोक्त रूप दृष्टि क्या था सब शुक्ल रूप दृष्टि किया अच्छा बात बक्षमाण दृष्टि रूप दृष्टि बक्षमाण दृष्टि क्या होगा वहां या नीलम पर कृष्णम ये जो बक्षमाण मंत्र में आगे कहना है इसलिए बक्षमाण बोल दिया इसी मंत्र में है बक्षमाण दृष्टि भी सामने कर देना सामने करनी चाहिए साम मंत्र में काली काली पाना की दृष्टि करनी चाहिए ये कहा तदेव रूपम अच्छा हो गया आगे अथ थी इसलिए अथा कहा अथा यह नीलम पर कृष्णम ये एक पक्षमान था आगे यथा आदित्य मंडले समधिगम्यम अधिकृष्णम रूपम उत्तम कहा था जैसे आदित्य मंडल में एक समाहित चित्त वाले के द्वारा द्विरूप दिखाई पड़ता है ऐसा आया था आदित्य मंडल में जो रूप है तो, हाँ, वो रूप किसके द्वारा दिखाई देता है काला रूप कौन दिखता है समाहित चित्त के द्वारा दिखाई देता है एकाग्र चित्त हो गया वो निवृत्त चक्षु वापी इंद्रियों के द्वारा विषयों से जिन्होंने इंद्रियों को वापस कर लिया है उनके द्वारा दिखाई पड़ता कहा था यथा आदित्य है समधिगम्य समधिगम्यम अतिकृष्ण समधिगम्यम अतिकृष्णम एकाग्र बुद्धि वाले के द्वारा अति काला रूप जो कहा था जान योग्य रूप कहा था तथा चक्षुषी अपनी आंख में भी ऐसे काला रूप है चक्षु जो भी दृक शक्ति अधिष्ठान जहां दृक शक्ति बैठी थी आंख की जो पुतली बोलते हैं जिसको देखने की शक्ति है वो जहां बैठती है उसका अधिष्ठान आश्रय जो काला बना बिल्कुल बीज का काला वही होता है तथा चक्षुषी अपनी दृक शक्ति अधिष्ठान जो दृक शक्ति देखने की शक्ति जो मान चक्षु जिसको कहा जाता है उसका अधिष्ठान तादृक रूपम उपलब्ध वही रूप काला रूप पाया जाता है तद दृष्टि सामने कर्तव्य ये कालीमा दृष्टि सामने करना चाहिए यह अर्थ हुआ इच्छा आगे मंत्र है अथ यशो अंतरक्षणी पुरुषो दृश्यते शैवरिक तत्साम तदुक्थम तद्यजु तद्ब्रह्म तस्य तस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम यावमुष्य ज्येष्ठौ तौ ज्येष्ठौ यन्नाम तन्नाम अथ येषु अन्तरक्षिणी पुरुषो दृश्यते सैव ऋक् तत्साम तदुक्थम् तदेजुः तद्ब्रह्म तदेव रूपम् अब अधिदेश करते हैं अथ मन अनंतर अंगोपासना के अनंतर अतः यह येषो अंतर अक्षणी पुरुष अंतर मन मध्य अक्षणी मध्य आंख के बीच में मध्य में पुरुषो दृश्य जो पुरुष दिखाई पड़ता है निवृत्त चक्षु भी यह आंख से चर्म चक्षु से नहीं ज्ञान चक्षु से दिखाई पड़ता है ये ऐसो ये ऐसा पुरुषो दृश्य ये पुरुष दिखाई पड़ता है कहां दिखाई पड़ता है अंतराक्षण आंख के बीच में आंख के भीतर मध्य में जो दिखाई पड़ता है सारे वही उसी को रिक कहेंगे वही पुरुष को रिक कहा जाएगा वही शाम तत्साम वही वही शाम है वही रिक है वही शाम है सब कुछ वही है वही पुरुष तद उक्तम वही उक्त है और तद यजु वही यजु होता है तद ब्रह्म ब्रह्म भी वही यहाँ ब्रह्म माने तीनों वेद ब्रह्म शब्द का वेद है वेद भी वही है तीनों वेद वही है तस्य ये तस्य तदेव रूपम ये चक्षु में रहने वाला जो पुरुष है इसका वही रूप है कौन रूप है यद अमुष्य रूपम उसका जैसा रूप था वैसे रूप इसका भी है जैसे आदित्य मंडल पुरुष का रूप है वही अधिदेश कर रहे हैं जैसे आदित्य मंडल का पुरुष का रूप है वैसे रूप है इसका भी कैसा है ज्योतिर्मय रूप है हिरण्य मस्त्र हिरण्य कैसा आप रणका सर्वेव है ऐसा रूप है उसका तो वही रूप इसका नहीं है इससे रूप है इसका ये कहा यह अमुष्य गेस्ट हो उसका जो गेस्ट है पर्व पक्ष है क्या पक्ष थे उसके रिक्षाम गेस्ट कहा था वही इसका भी है अधिदेश कर रहा है जैसा उसका वैसे ही इसका भी है कौ गेस्ट होगा यन नाम तन्नाम उसका जो नाम था वही नाम इसका भी होगा उसका क्या नाम था उतनाम इसका भी उतनाम होगा हाँ, वो सारे पापों से उठा हुआ तो ये भी सारे पापों से उठा हुआ है ऐसा कहेंगे ऐसा पुरुष यहां रहता है इसलिए घी आदि डालते हैं ना बाहर ही बाहर निकल जाते हैं भीतर नहीं जाते पानी पड़े चाहे घी पड़े आंख में बाहर निकल जाते हैं माने उसके जो रहने का स्थान भी ऐसा इतना असंग है कुछ भी रखता नहीं अपने पास तो वो कैसा असंग होगा आंख में कुछ भी वस्तु डाले तुरंत बाहर हो जाता है माने उसके रहने का कुर्सी भी इतना असंग है तो कितना असंग होगा ठीक है अथा यह ये सो अंतराक्षणी पुरुष दृश्य देगा ये आंख के बीच में जो पुरुष दिखाई पड़ता है वो निवृत्त चक्षु के द्वारा है ज्ञान चक्षु के द्वारा दिखाई पड़ता है साहेब रिक वही रिक है और तत्साम वही शाम है तद उत्तम वही उत्तम होता है और तद यजु यजु भी वही होता है तद ब्रह्म तीनों वेद भी वही था ब्रह्म मान वेद यहाँ ब्रह्म शब्द का वेद है तस्य तस्य तदेव रूपम उस इस जिसके कथन किया चक्षुष्ट पुरुष का उसका वही रूप है कौन सा रूप यद अमुष्य रूपम जो उसका रूप है किसका आदित्य मंडल का रूप हिरण्य मस्त्र हिरण्य कैसा आप सुवर्ण ऐसा रूप है और यव अमुष्य केशव उसका जो पक्ष थे दो पक्ष रिक्साम वही इसका पक्ष भी वही है तव तो या नाम नाम उसका जो नाम था क्या नाम था उत इसका भी उत नाम है सब पापों से उठा हुआ वो भी ये भी ऐसा ही है ऐसा ठीक है आध्यात्मिक प्रधान उपासना से सत्व अंगोपासना में उठा आध्यात्मिक जो तो प्रधान उपासना यहां होनी है चक्षुष्ट पुरुष की उपासना होनी है इसके अंग रूप से अंग, अंग रूप से अंगोपासना कथन कर दिया पूर्व ने मुख्य उपासना यह है इसके लिए पहले उपासना कर दिया बागे वृक्ष प्राण साम इत्यादि की अंगोपासना बताई थी आध्यात्म के प्रधान उपासना शेषत्व न शेषत्व न अंगो अंगत्व शेष माने अंग होता है आध्यात्मिक जो प्रधान उपासना है चक्षुत पुरुष की उपासना है यहाँ इसलिए अंगोपासना में उठवा अंगोपासना का कथन करके अनंतरम प्रधान उपासना विषय दर्शे थी प्रधान उपासना का विषय है उसको दिखाते ये अथ इत्यादि भाषा में कहा अथ यह ये सो अंतरक्षण पुरुषो दृश्य दे कहा जिससे निवृत्त चक्षु भी लगाना जैसे पूर्व में कहा था वैसे होगा ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ता है ऐसे आंख के भीतर पुरुष देखने वाले तो विरोधन और इंद्र तो धोखे में पड़ गए थे इसी में आएगा अष्टमाध्याय में आएगा इसी में आएगा तो इसी को उन्होंने आत्मा मान लिया था या आत्मा हो तो अपथ पापमा इत्यादि सुन करके छाया एक दूसरे की छाया दिखाई बड़ी स्पष्ट हो गया हाँ। और शीशा में जो दिखाई देता है जल में बोला हाँ वो भी है सर्वत्र है वो पक्का हो गए चले गए थे ऐसी स्थिति हो जाती है ऐसा नहीं निवृत्त चक्षु के द्वारा जो दिखाई पड़ता है हाँ। पूर्ववत या पहले जैसा अर्थ किया वैसे करना आदित्य मंडल ने पूर्व से जो अर्थ किया है वही अर्थ यहां भी होगा सायवरित अध्यात्म और यहां अध्यात्म वही है बाघाद्या पृथ्व्याद्या आद्या अधिदैवतम ये और बाघादि और पृथ्व्यादि का अधिदैवत हो जाता है प्रसिद्धार्थ ऋग पादबद्ध अक्षरात्मिका ऋग को होता है पादबद्ध अक्षरात्मिका ऋग होती है माने प्रत्येक पाद में अक्षर बराबर होते हैं ऋग्वेद में यजुर्वेद में विषम होते हैं पादों में अक्षर विषम होते हैं उसमें सम होते हैं प्रसिद्ध पादबद्ध अक्षरात्मिका प्रत्येक में अक्षरबद्ध पाद होते हैं उसमें ऋग्वेद में प्रसिद्ध है तथा साम साम भी उसी प्रकार उक्तम उक्त साहचर्य अथवा स्त्रोत्रम साम उक्तम अथवा यहां पर उक्त के सहचार से साम शब्द का अर्थ हो जाए उक्त भी हो सकता है शस्त्रम उक्ताद अन्य जो शस्त्र होता है वो उक्त से अन्य है गीति प्रदान होता है तथा यजु उसी प्रकार ये जो है स्वहा स्वदा पषण आदि सर्वम एवं बाघ यजु तत्सह एवं कहते हैं स्वहा स्वदा आदि जितने भी सर्व बाघ वाणी है स्वहा स्वदा जो बोला जाता है वो यजु है वो वो तत्सएव माने वो पुरुष ही है जो कुछ भी है वो पुरुष है पुरुष से अतिरिक्त चक्षु पुरुष से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कहा सर्वात्मकत्वात ये सर्व सर्वरूप है सर्वयोनित्व सबका कारण है कौन चक्षुष्ट पुरुष ऐसा इति है अवचाम पूर्व में आदित्य मंडल पुरुष के विषय में बता दिया था सर्वात्मा है सर्वयोनि है वही अतिदेश यहां करना है ऋगादि प्रकरणात तद ब्रह्म इति त्रयोवेदा यहाँ तद ब्रह्म पद से यहाँ क्या ऋगादि वेद के प्रकरण आया है इसलिए क्या लेना तीन वेद को लेना ब्रह्म शब्द कभी वेद में प्रयोग होता है ब्रह्मचारी शब्द में जो ब्रह्म शब्द वेद के लिए प्रयोग होता है ब्रह्म आचरितम शीलम ऐश्य सब ब्रह्मचारी वेद पढ़ने का जिसका स्वभाव बन गया अथवा वेद के जो अंग है सड़ंग उसके पढ़ना हाँ, सड़ंग वेद पढ़ने का जिसका स्वभाव बना है दिनचर्या वही है उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ यही होता है लेनी प्रत्यंत है ब्रह्म शब्द उपद रखकर चरधातु से ऋणी करके ब्रह्मचारी बनता है ब्रह्म मन वेद वहां शास्त्राध्ययन में भी जो समय काट रहा है वो ब्रह्मचारी होता है ऐसा होता है ये कहा ब्रह्म शब्द से परमात्म शब्द व्यावृत्ति हम्म। त्रयोवेदा ऋगादि प्रकरण ऋगादि यहाँ प्रकरण है ऋग जो सामादि का प्रकरण है इसलिए तब ब्रह्म जो शब्द आया उसका अर्थ है तीनों वेद तस्य ये तस्य से पुरुष तदेव रूपम अतिथित ये जो जिसका अर्थ कर रहे हैं चाक्षुष पुरुष का वर्णन कर रहे हैं उसका वही रूप का अधिदेश किया जाता है जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष का है हिरण्य मस्तु हिरण्य कैसा आपर्ण का सर्वे सुवर्ण इत्यादि ऐसा ही किम वो कैसा है कहा अमुष्य आदित्य पुरुष वो जो अमुष्य का अर्थ आदित्य पुरुष का जैसा रूप है वैसे रूप इसका हिरणमय इत्यादि या अभिदैवतम उत्तम जो अभिदैवत प्रकरण में कहा था हिरण्य मश्रु हिरण्य केश इत्यादि कहा था वैसे इसका भी है यह अमुष्य ज्येष्ठ हो माने पर्वणी जो उसका पर्व है जो पक्ष है दो हाँ, तव एव अस्यापि उसके इसके भी वही है पक्ष चाक्षुष कृष्ण चाक्षुष पुरुष के कृष्ण भी वही है पक्ष भी वही है कहा यद अमुष्य नाम उद इति उदगी था हाँ। जिस उसका नाम उत इति उदगी था इति दो नाम था उसका आदित्य मंडल का उत नाम भी था उदगित नाम भी था तदेव अश्य नाम इसका नाम भी वही है शंका होती है स्थान भेद है वही एक ही कैसे अध्यक्ष होगा वो कहाँ आदित्य मंडल पुरुष है कहाँ यहाँ चक्षुष पुरुष स्थान भेद है और भेदा एक पूर्व पक्ष शंका करता है स्थान भेदा रूप गुण नाम अधिदेशादि इसी तृत्व विषय भेद व्यवदेशाच आदित्य चाक्षुषयोर भेद चेत आदित्य पुरुष साक्षुष में भेद होगा पूर्वादि बोलता है अभेद नहीं एक ही नहीं भिन्न है क्यों थान अभेद एक तो थान भिन्न है आदित्य मंडल आदित्य में है और चक्षु में बैठा है चक्षुष तो पुरुष स्थान अभेद दूसरा रूप हम्म, गुण नाम अतिदेशा स्थित तत्व विषय भेदाच रूप अलग अलग है हम्म, गुण अलग अलग है नाम अलग है और अतिदेशादि आदि जो स्थित तत्व माने इसका शासन करने का स्थान भिन्न है ये तो क्या करेगा आदित्य मंडल से नीचे के लोगों का शासन करेगा ये और वो आदित्य मंडल से ऊपर के लोग का शासन करता है वो इसी तरह तो विषय भेद होने से अच्छा, आदित्य और भेद आदित्य मंडल का पूर्व चाक्षुष पुरुष का भेद भेद होना चाहिए एक कैसे होगा अतिदेश कैसे कर दिया यन नाम तन नाम यद वैष्णव तद इत्यादि कैसे बोला ये शंका है यदि चेत ऐसी शंका आने पर कहते हैं न नहीं क्यों अमुना अनेन एवं इति एक उभयात्म प्राप्ति अनुपत्ति कहते हैं एक ही व्यक्ति में दो की प्राप्ति नहीं होगी आगे मंत्र में कहेंगे वह अमुना उसके द्वारा ऐसा आएगा और यहाँ अनेना इसके द्वारा ऐसा आएगा दो नाम नहीं हो सकते कहते हैं अमुना अनेन अनेन इति एक उभयात्म प्राप्ति अनुपत्ति एक के दो आत्मा होना संभव नहीं वहां अमुना शब्द कहेंगे आदित्य मंडल पुरुष के लिए आगे मंत्र में आएगा अमुना सप्तम मंत्र में आएगा और इसके लिए अनैना आएगा तो ये एक आत्मा की दो आत्मा होना संभव नहीं है इसे अधिदेश ही करना होगा दो आत्मा बनाना संभव नहीं अमुना कहना और अनैना कहना दो आत्मा बनाना संभव नहीं है थान भेद करके इसलिए एक ही होगा कहते हैं अमुना सात मंत्र में आएगा अनैना अष्टम मंत्र में आएगा अनैना पद अष्टम मंत्र में आएगा ये अनैना पद इसलिए एक से उभयात्म प्राप्ति अनुपत्ति एक का दो होना संभव नहीं है एक का दो बनना संभव नहीं है इसलिए कहा द्विधा भावे न उपद्यते चेत नहीं पूर्वादि बोला दो प्रकार मान करके हो जाएगा एक ही है दो प्रकार से काम करेगा दो माना जाएगा चेत बक्षती ही आगे कहेंगे के में पूर्वादि कहता है स एकदा भवती त्रिधा भवती इत्यादि आएगा सप्तम अध्याय में आएगा जो ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ व्यक्ति है वह जैसा चाहे वैसा हो जाता है एक प्रकार तीन प्रकार दस प्रकार जैसा चाहे वैसा हो जाता है तो हो जाएगा यदि पूर्व पक्ष बोले तो सिद्धांत के नाम चेतन से एक निर्भय यदि सावयिक वस्तु होता तो हो जाता दो आत्मा हो जाता एक ऊपर लोग के सृष्टि शासन करता एक नीचे करता किंतु चेतन या निर्भय है आत्मा जो है निर्भय है निर्भयत्वाद द्विधा भाव अनुपत्ति दो बनना संभव नहीं है इसलिए अधिदेशी करना जो वो रूप है यही इसका रूप है जो उसका है यही है एक अध्यक्ष करना ही पड़ेगा ये कहा तस्मात अध्यात्म अधिदैव तयोर एकत्व में हुआ अध्यात्म और अधिदैव में उपासना में भेद करके कहा गया भले ही है हम्म, उपासना करने के लिए किंतु एकत्व ही है चेतन में भेद का बनाना संभव नहीं है निर्भय भय वो यत्तु रूपादि देशो भेद कारण भेद का कारण पूर्वादि ने कहा था रूपादि का देश किया जो उसका रूप वैसे ही इसका रूप तो वो ये अलग होगा कहा था अधिदेश करने के कारण स्वयं का स्वयं में अतिदेश नहीं होता अन्य का अन्य में अतिदेश होता है तो अतिदेश किया इसी के बल पर भेद होगा यह तो रूपादि हो भेद कारण अगोचर पूर्वादि ने जो कहा रूपादि का अधिदेश भेद का कारण है तुमने जो कहा था न तद भेदा भेद अवगमाया वो भेद ज्ञान के लिए नहीं है वो रूपादि का अध्यक्ष किया भेद ज्ञान के लिए नहीं किम तरही पूर्वादि बोलता है फिर किम तरही कहते हैं थाना वेदात वेदाशंका महाभूत इसके लिए कहा है थान वेद से मां थान वेद से भेद की शंका न हो इसके लिए कहा गया थान वेद होने से कहीं भेद माना जाए ऐसा भिन्न माने कोई इसलिए रूपाधिकारी बाबा भिन्न नहीं है जो उसका रूप इसी का रूप वही रूप है जो जो धर्म उसके हैं वही धर्म इसके हैं करके अभेद दिखाया थान वेद होने से किसी को शंका होगी भिन्न व्यक्ति होगा वो जो आदित्य मंडल से पुरुष और चक्षुष पुरुष भिन्न होगा शंका होगी उसके लिए अधिदेश किया गया नहीं स्थान तो एक ही धर्म है दोनों में ये दिखाया अभेद दिखाया है ठीक है दृश्यते प्रयोगात छायात्मा अयम इति आशंका पूर्ववत बोल दिया दृश्यते प्रयोग है चक्षु के भीतर में जो दिखाई पड़ता है कहा तो छायात्मा होगा कम दिखाई पड़ता है आंख से आंख के भीतर में कौन सी आत्मा दिखाई पड़े छायात्मा ये दिखाई पड़ता है ये शंका होगी दृश्यते प्रयोग है ना दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ने वाला तो छाया ही है वो दृश्यते प्रयोग छायात्मा आयम ये जो चक्षु के मध्य में जो पूर्व होगा छायात्मा ये वही दिखाई पड़ता है दूसरा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता ये शंका आगे जो कहा पूर्वगत हम्म। ऐसा निवृत्त चक्षु भी दृश्यते ऐसा अर्थ करना है यह आंख से देखा नहीं जाता हम्म। ज्ञान दृष्टि से देखना कहा जाता है यथा पूर्वस्मिन आदिदेवी के वाक्य जैसे आदिदेवी उपासना में वहां भी दृश्यते आया था उसका अर्थ समाहित चेतो वीर आदित्य पुरुष से दृश्यत्व हूं एकाग्र चित्त वाले के द्वारा आदित्य पुरुष को दिखाई पड़ता है कहा था तथा उसी प्रकार चाक्षुष पुरुष से जो चाक्षुष पुरुष है उसका भी विशिष्टाधिकारी वीर विशिष्ट अधिकारी के द्वारा ही दिखाई पड़ेगा एकाग्र चित्त वाले हैं उनके द्वारा विशिष्टाधिकारी वेद दृश्यत्व है दृश्यत्व स्वीकार करना चाहिए छायात्मा पक्ष है वाक्य शेष विरोधम अकृत्य यदि छायात्मा लेंगे चक्षु में जो दिखाई पड़ता है वही चक्षुष्ट पुरुष मानेंगे तो आगे के साथ वाक्य वाक्य शेष के साथ विरोध होगा वाक्य शेष में क्या कहा है साएव ऋग अध्यात्म कहा है उसी को ऋग में अध्यात्म कहा हुआ इत्यादि और बाघादि बाघाद्या प्रतिपाद्या अजयगतम ये बाघादि प्रतिपादि को अजयगत बताया हुआ है प्रसिद्ध आचरिक इत्यादि बताया टीका में कहते हैं <clears throat> या इम ऋग यथा व्याख्या था जैसे या इम ऋग हाँ, या इम रुख हाँ, अग्निशाम इत्यादि कहा था ये पृथ्वी ऋग है अग्निशाम कहा था यथा व्याख्या था सा सर्वा सैव पुरुष सबके सब वो या यम ऋक पृथ्वी अग्नि सामा इत्यादि मंत्रों से जो कहा गया था ये सब के सब वही पुरुष है उसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं सब वही है उसमें कल्पित है सारा कहा ऋचि उत्तम न्यायम सामने अध्यक्ष ऋग ने जो कहा था वही सामने अध्यक्ष करते तथा साम इत्यादि बोल दिया अच्छा। यथकिंचित साम तत्सर्वम स एव पुरुष इत्यर्थ जो कुछ भी साम कहा जाता है वो सब वो पुरुष ही है उससे पुरुष से भिन्न कुछ भी साम नहीं वृक्षाम शब्द और अर्थांतर महा वृक्षाम शब्द अन्य अर्थ भी कहा क्या कहा उक्त करके कहा ये हाँ। उक्त साहचर्या स्त्रोत्रम सामा साम का अर्थ कहा स्त्रोत्र उक्त के सहचार से उक्त मान स्त्रोत्र होता है उसके सहचार से साम माने ये वृक्षाम यदवत इति दृष्टान्त तथा शब्दार्थ जैसे रिक्षाम है उसी प्रकार दृष्टांत में तथा कहा हम्म। तथा साम इत्यादि कहा हाँ। कथम ऋगा आत्मत्व पद से परमात्मा ऋग्वेद सामवेद स्वरूप कैसा होगा शंका आगे विधा सर्वात्मकत्वा जो सर्वात्मा सब कुछ है तो ऋग्वेद भी सामवेद भी सब कुछ वही है हो जाएगा ब्रह्म शब्द से परमात्म विषयत्व व्यावर्त प्रकरणात् इति उक्त न्याय न त्रयो वेदा सएव पुरुष यहां ब्रह्म शब्द आया है तद ब्रह्म का ब्रह्म शब्द का था तो परमात्मा विषयत्व का व्यावृत्ति करके परमात्मा अर्थ नहीं लेना है ब्रह्म इस मंत्र का ब्रह्म का अर्थ व्यावर्त करते हुए प्रकरण प्रकरण से क्या लिया जाएगा उक्त न्याय ना त्रयो वेदा तीन वेद ही ब्रह्म होगा यहाँ ऋग यजुर्वेद शाम शाम की चर्चा है ऋगायुर्वेद की चर्चा है ये लेना सैव पुरुष है उपसंहार वो तीनों वेद भी पुरुष ही है ये सिद्ध करना तीनों वेद भी वही पुरुष है उससे अतिरिक्त नहीं छायात्मा और जड़ से व्यापृत अर्थ रूपादेशम अधिक नहीं तो ये आंख में फिर छायात्मा होगा जड़ होगा ऐसे व्यावृत्ति के लिए कहा रूप का देश का जो उसका रूप है वही इसका रूप है सुवर्णमय ज्योतिर्मय रूप है कहा तस्य इत्यादि कहा तस्य तस्य चाक्षुष से पुरुष से तदेव रूपम दृश्यते तो कहा किम तत् तो कहा यद अमुष्मात आदित्या आदित्य पुरुषस्य जो उस आदित्य पुरुष जो अमुष्य आदित्य पुरुषस्य जो उस आदित्य पुरुष के जो रूप है वही रूप इसका भी है इत्यादि कहा किम तद आदित्य पुरुष से रूपम अपेक्षा में रहा आदि पुरुष का रूप क्या हम तो भूल गए क्या रूप था शंका आ गई तब कहते हैं हिरणमय इत्यादि कहा था हिरण्य मसरू हिरण्य केश आप्रण का सर्व हिरणमय इत्यादि कहा था यही कहा हिरणमय इत्यादि अधिदेवतम उत्तम ये कहा टीका में कहते हैं इतश्च नायम छायात्मा इस हेतु से भी छायात्मा नहीं लेना होगा क्यों यऊ अमुष्य ज्येष्ठ पर्वणी कहा था जो उसका पक्ष है वही इसका पक्ष है कहा हुआ है आदित्य मंडल पुरुष का अधिदेश किया जा रहा है कहा समय हो गया फिर करें ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् मा तदात्मनिगते उपनिषत्सु धर्मास्ते ये सन्तु ओम